रामचरण ऊर्धर हो लङ्का अचल ऋषि तुमकर ऋषिपुलस्तेजसु विमलमयङ्का सशि बहुजन हो हो राम राम बिनु गिरान सोह देखो विचारे जगमद बसन हिन नहि सोह सुरारि भू सितबर तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो ऋषि पुलस्त जी का यश तिरमल चंद्रमा के समान है उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती मदमोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती राम विमुख संपति प्रभुताये जाये रहे पा ये बेनु पाये सजल मूल जिन सरे तन नाये बरसी गए पुनि तब हे सुखाए सुनो दस कंठ कहम पर रोपे राम विमुख त्रि कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो न राखे राम कर दो राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है हे रावण सुनो मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते मोहमूल बहुशूल प्रद त्यागहुतम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मोह जिसका मूल है ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो यद्यपि कहि कपि अतिहे तबायि भगवति बिबेकरति नयसानि बोलाहसे महयाभिमायणी मिलाह महि कपि गुरुबानि मृत्यु निकट आ विखल तो ही नागेसी अधमसी खावन मोहे उलटा हो ही कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनु